और इस किताब में मरियम का जिक्र करो जबकि वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरकी जानब चली गई